परम पिता परमात्मा का स्मरण समस्त सृष्टि के रचयिता परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ धर्म प्रेमी सज्जनों आज इस वेद मंत्र का भाव हम अपने जीवन के लिए ग्रहण कर रहे हैं वो मंत्र है यजुर्वेद के सत्रहवें अध्याय का छब्बीसवां मंत्र और महर्षि दयानंद द्वारा प्रणीत संग्रहित आर्यभिविनय के द्वितीय प्रकाश का चालीसवां मंत्र मंत्र में परमात्मा के बहुत से विशेषण दिए गए परमात्मा की स्तुति की गई और इस सब के माध्यम से परमात्मा के प्रति और अधिक प्रेम श्रद्धा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया मंत्र में परमात्मा के लिए कहा विश्वकर्मा विमना आद्विहाया धाता विधाता परमोत संतृक परमात्मा विश्वकर्मा है समस्त कार्य जगत के कर्मों को करने वाला है समस्त जगत का उत्पत्ति करता है महर्षि ने इसके लिए एक विशेषण साथ में दिया सर्वज्ञ जो इस समस्त सृष्टि का रचयिता है उसको सर्वज्ञ भी होना आवश्यक है तो सर्वज्ञ सर्वरचक ईश्वर विश्वकर्मा अगला शब्द है विमना विविध विज्ञान वाला है विभिन्न प्रकार का ज्ञान परमात्मा के पास है मनुष्य किसी किसी क्षेत्र में या कुछ क्षेत्रों में बहुत ज्ञान रखता है लेकिन फिर भी उसका ज्ञान उन सीमित क्षेत्रों में सीमित ही रहता है जो विशेषज्ञ हैं वो जानते हैं कि मेरा इस क्षेत्र में अज्ञान कितना अधिक है कितनी अधिक वस्तुएं बातें हैं जिनको मैं अभी तक नहीं जान पाया हूं लेकिन परमात्मा समस्त विधाओं में पूर्ण ज्ञान वाला है विज्ञान वाला है तो विमना विशेष ज्ञान वाला विज्ञान वाला है आद विहाया विहाया अर्थात वो सब जगह प्राप्त है पहुंचा हुआ है व्यापक है ओहांगत धातु से ये शब्द बना और निघंटू में ये महत नामों में पढ़ा गया है महत यानी बड़ा विस्तृत सर्वत्र व्यापक परमात्मा विश्वकर्मा है समस्त कार्य जगत को बना पाता है बनाने वाला है क्योंकि वो विमाना है विशेष विज्ञान से युक्त है और विहाया सब जगह वो पहुंचा हुआ भी है प्राप्त भी है सर्वत्र विद्यमान है इसी कारण वो इन सबको बना पाता है और रचना करने के साथ साथ परमात्मा अन्य महत्वपूर्ण कार्य करता है तो कहा धाता इस समस्त कार्य जगत को धारण करने वाला भी है जिसे उसने बनाया है उसको धारण भी करता है उसको चलाता भी है उसकी सुरक्षा भी करता है परमात्मा ने इनको बना करके छोड़ नहीं दिया है और बना करके जीवों को दे दिया हो और स्वयं बिल्कुल पृथक उससे निरपेक्ष हो गया हो ऐसा नहीं देने के बाद भी वो उसे धारण करता है और न केवल धारण करता है मंत्र में अगला शब्द है विधाता वो विशेष रूप से भी धारण करता है सामान्य रूप से वो सब प्राणियों का धारण करता है सब जीवों का धारण करता है उनके लिए वायु जल प्रकाश भोजन आदि की व्यवस्था उसने कर रखी है एक सामान्य धारण वो कर ही रहा है और इन सबको चलाने के लिए प्राणियों के लिए वायु अग्नि जल आदि भोजन आदि की व्यवस्था करने के लिए जो चीजें आवश्यक हैं उनको भी वो सामान्य रूप से सबके लिए कर रहा है इस पृथ्वी का घूमना है दिन और रात का बनना है विभिन्न ऋतुओं का आना है ये सबके लिए समान है पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य हो चाहे पेड़ पौधे हो और मनुष्यों में भी कुछ भिन्न भिन्न हो अलग अलग स्तर के हों सबके लिए कुछ चीजें समान है इस दृष्टि से परमात्मा धाता है धारण करने वाला है एक सामान्य रूप से धारण कर रहा है परमात्मा का ये सामान्य रूप से धारण करना भी बड़ा विचित्र है आश्चर्यजनक है उस दृष्टि से ये भी विशेष है लेकिन समस्त प्राणियों की दृष्टि से वो समान है सामान्य है तो परमात्मा सामान्य रूप से भी हम सबका धारण कर रहा है और उसके लिए आवश्यक समस्त क्रियाओं को वो कर रहा है लेकिन वो सबको समान रूप से धारण नहीं कर रहा वो विधाता भी है विशेष रूप से भी धारण करता है प्राणियों में भी विभिन्न भेद हैं उनको भी अलग अलग ढंग से धारण कर रहा है अन्य प्राणियों के लिए परमात्मा ने वेद रूपी ज्ञान नहीं दिया उनकी वो सामर्थ्य नहीं है उनकी वो ऐसी बुद्धि नहीं है उनके लिए परमात्मा का धारण भिन्न प्रकार का है लेकिन मनुष्य एक विशेष प्राणी है उसके लिए विशेष रूप से धारण की व्यवस्थाएं हैं जैसे कि ज्ञान वेद जैसे कि विशिष्ट बुद्धि जैसे कि विशिष्ट इंद्रियां और मनुष्यों में भी जो विशिष्ट हैं जो धर्मात्मा हैं जो देव हैं उनको परमात्मा और विशेष रूप से धारण करता है उनकी विशेष सहायता करता है जो परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करते हैं मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं साधक हैं अन्यों का हित करते हुए अपना हित करते हैं उन लोगों को परमात्मा की विशेष सहायता प्राप्त होती है विशेष ज्ञान प्राप्त होता है सारी प्रक्रिया और सारी व्यवस्था परमात्मा ने ऐसी बना रखी है कि श्रेष्ठों का अधिक हित होता ही है तो परमात्मा विधाता भी है धाता विधाता आगे कहा परम परम उत परमोत परमात्मा सबसे उत्कृष्ट है सबसे श्रेष्ठ है ये जो विशेषण पहले दिए गए विश्वकर्मा धाता विधाता आद्विहाया विमना ये बहुत से विशेषण हमें मनुष्यों में भी दिखाई देते हैं बहुत सारे विविध कर्मों को करते हैं विशेष ज्ञान से युक्त प्रतीत होते हैं धाता भी होते हैं विधाता भी होते हैं तो कोई मनुष्य ऐसा ना समझ ले कि जैसे ये हैं ऐसा ही परमात्मा होगा जैसे कि राजा विविध कर्मों को करता है असंख्य कर्मों को करता है करवाता है धारण करता है सुरक्षा करता है ज्ञान विज्ञान से युक्त होता है इसी तरह से विद्वान भी होते हैं तो कोई ये ना समझ ले कि इन्हीं जैसा वो परमात्मा होगा तो इन गुणों से युक्त वो परमात्मा परम है इन समस्त गुणों की जो चरम सीमा है वो परमात्मा में है उससे अधिक इन गुणों की विद्यमानता किसी में नहीं होती परमात्मा के समान भी नहीं होती मनुष्यों में जो ये गुण दिखाई देते हैं वो बहुत कम है परमात्मा की दृष्टि से नगण्य है तो परमात्मा इन गुणों में परम है सबसे श्रेष्ठ है सर्वोत्कृष्ट है जिससे बड़ा कोई हो नहीं सकता और कहा संद्रिक ऐसा वो परमात्मा इतनी सामर्थ्य वाला परमात्मा सदा देखता रहता है सम्यक प्रकार से देखता है जिस प्रजा के लिए उसने ये सृष्टि बनाई है उनके पाप और पुण्यों को वो सतत देखता है उसने ये सृष्टि बनाई ही इसलिए है इनको इनके कर्मों का भोग मिले फल मिले यथोचित व्यवस्था मिले जिससे ये उन्नति कर सकें इनका सुधार हो और ऐसा करते हुए वो अपवर्ग को मुक्ति को प्राप्त कर सकें तो परमात्मा इन सबको बना करके धारण भी कर रहा है और साथ में ये भी देख रहा है कि जिस उद्देश्य के लिए मैंने ये संसार बनाया था जिन आत्माओं के लिए ये बनाया था वो इस उत्कृष्ट संसार में रहते हुए चल कैसे रहे हैं कर कैसे रहे हैं उनके पाप कैसे हैं उनके पुण्य कैसे हैं कितने हैं उन सबको परमात्मा देखता है और सम्यक प्रकार से देखता है बिना पलक झपके सतत निरंतर देखता है कोई अवकाश नहीं कोई बीच में रुकावट नहीं कोई बीच में अवकाश नहीं लगातार वो भली प्रकार हमारे कर्मों को देख रहा है इसलिए महर्षि ने लिखा संद्रिक यथावत सबके पाप और पुण्यों को देखने वाला है पाप और पुण्यों को करना भी वो देखता है और पाप और पुण्यों का फल जितना जितना जिसने भोगा है उसको भी वो देखता है और उसके अनुरूप वो कर्माशय को बढ़ाता और घटाता है जितने हमारे कर्म होते जाते हैं उसके अनुरूप कर्माशय बढ़ता जाता है और जितना जितना हमारा भोग होता जाता है उतना उतना कर्माशय घटता जाता है इस सब की व्यवस्था परमात्मा ही करता है मात्र परमात्मा ही कर सकता है और किसी की सामर्थ्य नहीं ऐसा वो परमात्मा सर्वोत्कृष्ट है मंत्र की अगली पंक्ति में कहा तेषाम इष्टानी समीशा मदंती जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को जो उसे काम्य है प्राप्त करने योग्य चीजें हैं इष्ट हैं उन सबको परमात्मा के आधार पर पूर्ण करता है परमात्मा की व्यवस्था के अनुरूप पूर्ण करता है ऐसे मनुष्य वे मनुष्य मदंती आनंद को प्राप्त होते हैं प्रसन्न होते हैं उन्हीं को ये सब इष्ट प्राप्त होते हैं वैश्य ने लिखा जो मनुष्य उसी ईश्वर की भक्ति उसी में विश्वास और उसी का सत्कार पूजा करते हैं परमात्मा की भक्ति करते हैं उसकी आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं और परमात्मा पे पूरा विश्वास रखते हैं परमात्मा की व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखते हैं उसकी न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखते हैं ऐसे मनुष्य परमात्मा के सामर्थ्य पर विश्वास रखते हैं लेश मात्र भी संशय नहीं रखते और उसका सत्कार पूजा करते हैं उसके प्रति आदर का भाव रखते हैं और उसको छोड़ के अन्य किसी को लेश मात्र भी नहीं मानते परमात्मा को जितना आदर सत्कार श्रद्धा हमें रखना है उसकी तुलना में मनुष्य के प्रति जो हम आदर सत्कार रखते हैं वो नगण्य है और जितना आदर सत्कार हम अन्य मनुष्यों के प्रति रखते हैं वो सब भी परमात्मा के निर्देश के अनुसार हो तो वो सारा आदर सत्कार भी वास्तव में परमात्मा का ही है व्यवहार में हमें यही प्रतीत होगा कि हम अन्य मनुष्यों का बहुत आदर सत्कार करते हैं जैसा जैसा जो जिसके साथ करता है हमें वो बहुत प्रतीत होता है लेकिन महर्षि लिखते हैं कि जो अन्यों का लेश मात्र भी आदर सत्कार नहीं करता इसका ये अभिप्राय नहीं कि अन्यों का श्रेष्ठों का धार्मिकों का आदर सत्कार ना हो उनके प्रति विश्वास ना हो होता है वो लेकिन उनके प्रति भी जो आदर सत्कार विश्वास है वो परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप जब होता है जो परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप कर्म कर रहा है उसके प्रति विश्वास उसका सत्कार तो ये वास्तव में परमात्मा का ही सत्कार है आर्य की क्या भावना होनी चाहिए वो यदि किसी का सत्कार कर रहा है तो वो परमात्मा का सत्कार कर रहा है किसी व्यक्ति का सत्कार उसके उन गुणों के कारण करता है जो परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप हैं, परमात्मा के निर्देश के अनुरूप हैं। आर्य की दृष्टि ये रहनी चाहिए यदि परमात्मा के निर्देश आज्ञा और विधान को छोड़ करके उनसे भिन्न बातों के लिए किसी व्यक्ति का हम सत्कार करते हैं तो ये उन व्यक्तियों का अलग से स्वतंत्र सत्कार होगा और परमात्मा का असत्कार होगा ऐसी स्थिति में हम अन्यों का सत्कार करते हुए विश्वास करते हुए भी परमात्मा के प्रति अविश्वास रख रहे हैं लेकिन आर्य श्रेष्ठ व्यक्ति जिसने परमात्मा को इस रूप में समझा है कि वही विश्वकर्मा है विमना है आत्विहाया है धाता विधाता परमोत संद्रिक ये है परमात्मा ये मान करके जब व्यक्ति सामान्य व्यवहार करता है अन्य मनुष्यों से व्यवहार करता है उन पर विश्वास करता है सत्कार करता है तो ये सब परमात्मा के कारण से कर रहा होता है उसकी दृष्टि अंदर से परमात्मा से जुड़ी भी रहती है कि मैं इन व्यक्तियों का क्यों सत्कार करूं क्यों विश्वास करूं क्योंकि ये परमात्मा के अनुरूप चल रहे हैं परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप जो जितना जितना चलता है उतना उतना उसके प्रति विश्वास उतनी उतनी उसके प्रति श्रद्धा और सत्कार जो आर्य करता है वो वास्तव में परमात्मा का ही आदर सत्कार कर रहा होता है अन्यों का किसी का सत्कार नहीं कर रहा होता ये आंतरिक बात है व्यवहार में अन्यों का सत्कार करता हुआ वो दिखेगा और वो आवश्यक भी है तो इसलिए महर्षि लिखते हैं कि उसको छोड़ के अन्य किसी को लेश मात्र भी नहीं मानते उन पुरुषों को ही सब इष्ट सुख मिलते हैं सब इष्ट सुख की प्राप्ति उसी व्यक्ति को हो सकती है जो परमात्मा के विधान के अनुरूप अन्य मनुष्यों से भी व्यवहार करता हो बहुत सारे सुख साधन हमें परमात्मा से निरपेक्ष रहते हुए अन्य मनुष्यों का आदर सत्कार सेवा करते हुए भी प्राप्त हो जाते हैं अन्याय पूर्वक भी प्राप्त हो जाते हैं लेकिन वो बहुत थोड़े होते हैं वो सब नहीं होते वहां कुछ ना कुछ बाधा अवश्य आती है उन्हीं व्यक्तियों से हमें दुख भी प्राप्त होता है यदि दुष्ट व्यक्ति का हम सत्कार करके कुछ प्राप्त कर भी लेंगे तो दुख भी साथ में आएगा कुछ ना कुछ बाधा होगी बड़ी बड़ी बाधाएं भी हो सकती हैं तो परमात्मा के विधान को छोड़ के जो अन्यों का सत्कार श्रद्धा विश्वास करता है वो सब सुखों को तो प्राप्त नहीं कर सकता सब सुख नहीं मिलेंगे कुछ मिल सकते हैं लेकिन हर आत्मा सब सुखों की सब इष्ट सुखों की प्राप्ति चाहता है महर्षि लिखते हैं उन पुरुषों को ही सब इष्ट सुख मिलते हैं औरों को नहीं एक अटल सिद्धांत महर्षि ने दिया आगे लिखते हैं वह ईश्वर अपने भक्तों को सुख में ही रखता है परमात्मा दुख देता ही नहीं है उनको और यदि अन्य व्यक्ति उसके साथ अन्याय करें उसको दुख दें तो परमात्मा उसकी पूर्ति करता है क्षतिपूर्ति करता है परमात्मा के रहते किसी के साथ उसके भक्त के साथ धार्मिक व्यक्ति के साथ श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ अन्याय हो भी जाए तो भी परमात्मा उसकी पूरी व्यवस्था न्याय करता है तो इस दृष्टि से उनके भक्तों को सच्चे भक्तों को सुख में ही रखता है और वे भक्त ऐसे भक्त सम्यक स्वेच्छा पूर्वक मदंती परमानंद में ही रहते हैं दुख को नहीं प्राप्त होते हैं अन्यों को तो दुख प्राप्त होंगे तो तेषाम इष्टानी समीशा मदंती आगे कहा यत्रा सप्त ऋषि जिस परमात्मा में ये सात ऋषि रहते हैं परमात्मा के सामर्थ्य में ये सात ऋषि रहते हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं इसमें महर्षि ने अर्थ खोला कि पांच प्राण सूत्रात्मा और धनंजय ये सब प्रलय विषय कारणभूत में ही रहते हैं लेकिन परमात्मा के सामर्थ्य में रहते हुए ये प्राकृतिक पदार्थ हैं महर्षि ने इन सात प्राणों को अन्यत्र खोला भी है पांच प्राण जो प्रसिद्ध हैं वायु के ही भेद एक प्रकार से माने जाते हैं और धनंजय और सूत्रात्मा इसको भी महर्षि वायु के रूप में ही खोलते हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में सृष्टि विद्या संक्षेपत में महर्षि ने सप्त परिधियों की बात की सप्तास्यासन परिधय त्रिसप्त समिधा कृता तो उन सात परिधियों में अंतिम दो परिधियां धनंजय और सूत्रात्मा वायु की कही है पहली परिधि समुद्र को कहा दूसरी परिधि त्रसरेणु युक्त वायु को कहा ये पृथ्वी और उसके ऊपर ऊपर की बात है और तीसरी परिधि मेघमंडल और वहां स्थित वायु को कहा चौथी परिधि वृष्टि जल को कहा पांचवी परिधि में फिर वायु शब्द का प्रयोग किया और छठी परिधि में कहा अत्यंत सूक्ष्म धनंजय ष्ठ जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायु बहुत सूक्ष्म होती है विरल होती है तो जो छठी परिधि है वो धनंजय के रूप में महर्षि ने कही और सातवीं परिधि के लिए कहा सूत्रात्मा सर्वत्र व्याप्त सब जगह फैला हुआ सूत्रात्मा वायु और पृथ्वी व्यादि लोक भ्रमण विषय में भी महर्षि ने सूत्रात्मा शब्द का प्रयोग किया है एवमेव सर्वे लोका स्वस्थ स्वस्थ कक्षायाम वायवात्मना ईश्वर सत्तया च धारिता संतो भ्रमंती इसी प्रकार सूत्रात्मा जो वायु उसके आधार और आकर्षण से सब लोगों का धारण और भ्रमण होता है तो ये एक प्राकृतिक चीज है ये परमात्मा के सामर्थ्य में रहती है परमात्मा ने ये व्यवस्था की है लेकिन हमारे लिए ये धारण करने वाली है जो परमात्मा धाता और विधाता है वो इसलिए है क्योंकि इन सब चीजों को वो धारण करने वाला ये इसके परमात्मा के सामर्थ्य में रहती है तो सूत्रात्मा और धनंजय इन सब को परमात्मा ही धारण कर रहा है और ये हमारे को फिर धारण करती है आगे कहा पर एकम आहु वो एक अकेला है जो परम है सर्वश्रेष्ठ है सदा हित करता रहता है और महर्षि ने इसके लिए लिखा वही जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय में निर्विकार आनंद स्वरूप रहता है सृष्टि की चाहे उत्पत्ति हो रही हो चाहे सृष्टि की स्थिति हो चल रही हो और चाहे प्रलय हो कुछ भी हो रहा हो ये अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी क्रियाएं हैं बड़े संक्षोभ हैं प्रकृति इतनी महान है बड़ी है लेकिन उसमें भी इन सब परिवर्तनों के बीच में भी इन सब कर्मों को करता हुआ भी अनंत अनंत क्रियाएं अनंत अनंत वस्तुएं हमारा तो दिमाग भी चकरा जाता है हमारी कोई पहुंच नहीं है हम कल्पना तक नहीं कर पाते इतना बड़ा तो परमात्मा वही जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय में इन सब के होते हुए भी निर्विकार रहता है परिवर्तनशील नहीं होता आनंद स्वरूप रहता है ऐसे उस परमात्मा की अब ये हमारे लिए प्रेरणा है आर्यों को वैसा बनना है कि वे भी इस संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करते हुए अपने अपने कार्य के अनुसार कुछ निर्माण करते हुए कुछ धारण करते हुए विधारण करते हुए विशेष ज्ञान से युक्त होते हुए कर्मों को करते हुए और विनाश जहां अपेक्षित है उसको नष्ट करते हुए हम भी निर्विकार और आनंद में रह सकें क्योंकि हमारा परमपिता परमात्मा ऐसा है ऐसा रहा जा सकता है सब मनुष्यों के पाप और पुण्यों को देखता हुआ समस्त बुरे कर्मों को जानता हुआ भी वो निर्विकार है इन सबको जानते हुए भी वो आनंद स्वरूप है अर्थात इन सब के बीच में रहते हुए भी हम परमात्मा की सहायता से निर्विकार और आनंद स्वरूप रह सकते इसलिए इसलिए महर्षि अंतिम वाक्य लिखते हैं उसी की उपासना करने से हम सदा सुख में रह सकते हैं एक सूत्र दे दिया उत्पत्ति स्थिति प्रलय कुछ भी हम करें इस संसार में अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार वेद की आज्ञा के अनुरूप उन सबको करते हुए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम निर्विकार और आनंद की स्थिति में रह सकें इस मंत्र का ऋषि है विश्वकर्मा भुवन पुत्रो विश्वकर्मा इस मंत्र का देवता है विश्वकर्मा वो परमात्मा आर्य परमात्मा को विश्वकर्मा रूप में देखता है जो मंत्र में उसका स्वरूप बताया उसको सामने रख लेता है समझ लेता है और ऐसा करने पे इस मंत्र का साक्षात्कार करने पे वो क्या बन जाता है तो मंत्र का ऋषि है भुवन पुत्रो विश्वकर्मा ऋषि जिस प्रथम मनुष्य ने इस मंत्र का साक्षात्कार किया था उनका व्यक्तिगत नाम जो भी हो लेकिन गुणवाचक नाम उनका बन पड़ा वो क्या बन गए भुवन पुत्र बन गए इस समस्त भुवनों के पालक बन गए जो जो भी चीजें धारण करने वाली हैं अपनी सामर्थ्य और सीमा के अंदर वो उनकी रक्षा करने वाला बन गया जो व्यवस्था वो चला रहा है उस व्यवस्था का वो रक्षक बन गया हितकारक बन गया और विश्वकर्मा विभिन्न कर्मों को करने वाला विभिन्न निर्माण को करने वाला वो बन गया परमात्मा के इस विश्वकर्मा स्वरूप को हम मन में रखें आर्य की ये भावना होनी चाहिए उस विश्वकर्मा के स्वरूप को मन में रखते हुए हम भी विश्वकर्मा बन जाएं भले ही सीमित क्षेत्र में बनेंगे परमात्मा की अपेक्षा बहुत छोटे बनेंगे लेकिन फिर भी हम विश्वकर्मा बनेंगे परमात्मा जैसे और इन भुवनों के हम पालक बनेंगे रक्षक बनेंगे इनकी हानि नहीं करेंगे हम ज्ञानपूर्वक इनका निर्माण करेंगे हम इनका धारण भी करेंगे और उसमें विशेष व्यवस्था भी रखेंगे हम विधाता भी बनेंगे विशेष भी धारण करेंगे और विहाया हम उन निर्मित वस्तुओं के पास भी जाएंगे बना के नहीं छोड़ देंगे उन तक अपनी पहुंच बना के रखेंगे अपनी पकड़ बना के रखेंगे और जो जो उसके अनुरूप चलते हैं उनको इष्ट सुखों की प्राप्ति कराएंगे और इस प्रकार हम मनुष्यों में भी और श्रेष्ठ बनते हुए सबका अधिकाधिक हित करेंगे ये भावना इस मंत्र के अंदर ईश्वर ने हमें प्रदान की है महर्षि ने उसका भाष्य किया इस भाव को रखते हुए आज का विशेष विचार मन में रखेंगे हाँ पूछिए पंच प्राण अंतकरण और जीव लिया है तरह से पंच प्राण अंतकरण और जीव ये नीचे टिप्पणी में लिखा है या मूल में लिखा है तो ये भेद है फिर मेरे पास जो है उसमें आर्ष साहित्य वाली में सूत्रात्मा और धनंजय लिखा हुआ है ठीक है उनको भी उस ढंग से देखना हो तो वो देख सकते हैं प्रणव ओ